प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहाँ है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर नमो नमो दत पुरज को नमस्कार गुरु के नई नर मुन साधवा संतो सर्व सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम पर आगे पीछे मध्य हुए तिनको जाकर पाने निराकार निर्लेपम निज नीरगुणाम अकल अनुप बेसोन दुनाम सोहम सुरति समाहपताम सकल समान नीर उज्ज्वल हर तम बेपरवा था है त्रिवदो सुमर चत अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला परम शक्ति संगीता मृत जित दाता सोई अविगत गुण यतीता सत पुरुष निर्मोही जगदम्बारी तन मन अर्पो शीशा भक्ति मुक्ति भंडारी शुर नर मुनि जन जाम ब्रह्मा विष्णु शेष शेष मुख नाम पूजन गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय तेतीस कोट अधारा जाम अठासी उतर जल पारा कट है सत्साही अभी तक आपने जो बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार गरीबदास जी महाराज की वाणी के बारे में जानकारी हुई तथा वाणी सुनी आपने वैदे का अंग सुना जिसमें बंदी छोड़ महाराज ने यथार्थ भक्ति प्रकाश किया और सत्य अर्थ करके उनके अवगुणों को उनके सामने पेश किया जो कि कति चौके तो विद्यमान उनके अंदर भक्तात्माओं में है उन्होंने इसलिए कहा कि अपने बच्चे समझ कर ये परमात्मा थे सारी पृथ्वी के पिता हैं और पिता अपने बच्चे को छो माँ का भी समझावा है उसके भले भले के लिए कई बार गुस्से में भी हो जाना पड़ता है पर दुश्मन नहीं होता वो बाप दुश्मन नहीं हो सकता इसीलिए सतगुरु महाराज ने समझाया कि भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ओछी उपासनाओं से कभी भी मनुष्य जन्म को सफल नहीं कर पाओगे इसमें और एक सुनाएंगे हम आपको तर्क वेदी तर्क वेदी के अंदर भी सतगुरु महाराज ने जो कि तुम यथार्थ बातें कही है क्योंकि जब तक हमने पूर्ण जानकारी अपने अवगुणों के बारे में नहीं होगी तो हम उसमें छोड़ भी नहीं सकते उन तक बच भी नहीं सकते तो यहां हम आपको महाराज की तर्क वेदी सुना रहे हैं वैद्य के अंग में आपने सुना कि जो तीर्थ व्रत करते हैं और केवल माला फेरते हैं परमात्मा का सतनाम नहीं लेते परमात्मा का भजन नहीं करते वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते और हम उनको ये समझा करते कि बहुत अच्छे संत हैं क्योंकि तप करने वाले में कोई देख ले तो हम हैरान रह जावा कि इसके तो पां भी सूझ रहे हैं हाँ, और सोई यार ये दस दिन हो गए मैंने देखते ने खड़ा है तो सतगुरु महाराज कहते हैं इन बातों पर कोई खास वस्तु उपलब्धि नहीं होगी खड़ा रहते हैं वो तप बन जाता है और तप से फिर हमें राज मिलता जैसे गुआर बोलिया तो गुआर का फल जरूर है फिर उससे पूछे कि एक रह है अकबर मैं गेहूं बो रहा हूं और उसने कोई नो कह दे गेहूं नहीं से बीरा क्यों दुखी हो रहा सर तो वो काली मान जाता है दुख मानता है कि हमारी खेती को बिसरा रहा है बिसरा नहीं रहे वो यथार्थ बता रहे हैं तर्क वेदी पांडे वेद पढ़े क्या हुई घट अंदर की खबर न जाने दौरा लूटे तो ही एक गुजरी एक धागा पांच ततरंग भीना बागा हाड चाम का सकल पसारा सब गट एक बोलन हारा भरम भेद भूलो भरम भेद भूलो मत को सब गट एक गुद्दा लो चाहे किसी भी जाति का मनुष्य हो स्त्री हो या मजहब के हो आप पिछाड़ नहीं सकते उनमें कहते हैं बंदी छोड़ एक से हार्ड मास सब कुछ कान आंख ना कोई फर्क नहीं किया परमात्मा ने तो हमने बनाया ये फर्क फिर कहते हैं भग द्वारा सब आवे जाही ऊंच नीच कहा भिन्न बताही माँ के गर्भ में जेर में लपटे हुए थे सारे चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे चाहे किसी जाति के चाहे ब्राह्मण थे चाहे छोटी जाति के थे चाहे जाट थे वो सब उस जेर में लिपटे हुए थे अड़ंगे में और बार आकर अपने आप में स्वस्थ था पवित्र तथा उत्तम बन बैठे आप बन गए ना नहा धोकर वो भी दाई ने नुआया नुआ तो बात यह है कि हमने यथार्थ ज्ञान को छोड़कर अपने मन मर्जी की उपासना साधना और नियम मर्यादा बना ली जो कि हमें लेकर डूब जाती है भग द्वारे आम जाही ऊंच नीच कहा भिन्न बताही उधर बीच कहा था पोथी पाना भाई लग सला नहीं अस्थाना ना था पांडे कंद जनेऊ बहुत भूले बाट बटेऊ दर्पण धोती तलक न होता उर्द मुखी भव जल मोता गोता ता नेम अचार नहीं था भाई ताते समझ शब्द लौलाए नो कहूड़ा कोई मर्यादा नहीं थी ना अचार विचार थे बिना ना चलक था ना धोती थी ना जनेऊ था और ना ही वहां सुन्नत कर रखे थे मुसलमान भाइयों के लिए भी सतगुरु कहते हैं कि यहां आकर अपने मन मर्जी के बनाकर बैठ गए बीरा दुखदाई होंगे आपके लिए कहते निसंदेह देव गीता गायत्री न होती और कागज कलम न पतरा पोथी निसंदेह देव नहीं दूजा ना जा पत्थर पानी पूजा कंठी माला ना मर्ग छाला ना चंदन के छापे अरे पत्थर पूजे पद नहीं सूजे पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे लापना माने उनको याद करना सुमरण करना <clears throat> लाप जैसे विलाप करते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष का जाप नहीं किया पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे लाप्या करे ना भाई विलाप कर रहा था बहुत बुरी तरह जैसे रामचंद्र जी सीता के बारे में विलाप कर रहे थे अपनी निजी वस्तु गुम हो जा और फिर उसने ढूंढन के लिए उसको पाने के लिए कितना तड़फता है उसको लाभ कहते हैं इस भाव से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने याद करो भाई इन बातों से काम नहीं चलेगा जो कि महाराज गरीबदास जी कहते हैं लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे ऐसे कौन पति जय जी या लल्लो पत्तो करते आपा ना चौथा युग हो गया <clears throat> अरीबता समाधान नहीं हो पाया इसलिए सतगुरु महाराज कहें से थोड़ा तेज कर दे इब कहते हैं कि शुद्र ब्रह्मणी जाया भाई और तुम शूद्र शरीरम <clears throat> बार आण बहे ब्रह्मचारी नाते बहुदल नीरम अब मां के गर्भ में तो सारे शूद्र पैदा हुए थे शूद्र किसने कहा शाम जो सुरडासा रहता हो और कहते जब मां की गर्भता आई जब तो तुम सारे शूद्र थे अब ठीक कहते ब्राह्मणी का भी शूद्र पैदा हुआ और जाटनी का भी अक्षत्री का भी और ठाकुर का भी यानी सबका शूद्र पैदा हुए थे भाई बार आकर नहा धोकर ये ब्राह्मण बन गए ये चौधरी बन गए ये बाणिये बन गए ये कुछ नहीं रखा इन बात में सतगुरु का असली उद्देश्य ये है शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई तुमरा शूद्र शरीरम बाहर आण भय ब्रह्मचारी नाते बहुदल नीरम बहुदल नीरम गैर गंभीरम सूतक पातक जिम और बहुदल आन पड़े हैं भाई घोर कुंड फिरने में फिर घोर नरक में पड़ते हैं क्रिया से कारद नहीं सरता भक्ति भाव से दुखे और घी वसुंदर दे दे पांडे होम बोध से फूके एक बार एक आशीषी की बात से बत से यथार्थ एक समय एक बोले से जमींदार का भगत का कोई लड़का हो गया लड़का हो गया था तो वो था कति बोला उनके घर वाले कहने लगे पंडित जी ने बुला लिया और होम करवा दे होम कैस अवन को अपभ्रंश शब्द है होम अकहोम करवानी से पंडित जी ने बुला ला पंडित जी बोला हाँ वो जाके भगत जी कहने लगा कि भाई पंडित जी कहा भाई और दादाजी महाराज जो है ना तो होम कर दे पंडित जी बोला भाई क्या आड़ी करूं सवा आड़ीक सवा दो आड़ीक सवा पांच आड़ी उन्हें सोचा महाराज गरीब बड़ा साहब उनसे सवा आड़ी कर दे बोला ठीक से पहले चांदी का रुपया होया करता तो पंडित जी आ गया अपना लीप पोच के और जला के प्रज्वलित करके अग्नि को और वो बिठा लिया भगत जी ना दुआ का आगे अक मैं बोलू ने बोलिए अक अच्छा बोला ओम ओम तो कह दिया ठीक भूर भव ओ कह तुम रह यानी इस तरह उसको कह के मैं और उसका मुंह तलक तो रखे मैं पंडित जी ने बोला ठीक बोल और तो चौधरी साहब जी ने बोला ठीक बोल क्यों उसने तो न्यो कह रखा जो कर मैं बोलू न्यो बोलना ने बोला तुम आदमी से गमछक करे और ने बोला तुम आदमी से गमछक करे तो पंडित जी ने उसका मुंह पर मारा दड़ाक उसने दो ठोके कोलम कोला अब पंडित जी तो ढाडा था घेर लिया था पंडित जी इसने पंडित जी ने सोची यू क्यों कृपाडा छुटे फिर याद आ गई कि नाड़ी जो मैं कहूं सुन कह है बोला छोड़ दे बोला छोड़ दे छोड़ के खड़ा हो गया तेरा बैठ जा बैठ गया उन्होंने सोची बस चलिए सवा रुपया तो काट ना इसमें तो रोड़ा भी क्यों गिरा पंडित जी छाना था वो आ लिया जब ने बोला पंडित जी कहा चोखा तो मैं मेरे सोले दिन थे मैंने सवा आला करवा लिया जब सवा पांच आला होता था दोनों मरा हुआ तो मतलब ये था कि उनको दे रहा कि मैं था नहीं बनाए बनाए जाते उनको मैं तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं क्रिया से कारज नहीं सरता भक्ति भाव से दुख है और घी वसंदर दे दे पांडे होम बहुत से फूक है हो हाँ, मनोज किए निश्वासर जीव बहु हिते बहु दगदे और ओत बोत की पूजा खाई भोजन बहुवित बगदे ये कमजोर हो जाके बाद डाउन हो जाता है देवी के तुम दास कहाओ मत्साणी मनमाला और चंडी का तुम चाव रखत हो इत हो छीमू काला अग्नो दुखी हो गए तुम कहते हैं दुर्गा कहले मुर्गा दौड़े चंडी कहले बकरा और बहुत कफीक सरे में होगी तेरी छाती दीजिए लकड़ा यानी कह चंडी तो का तो बकरा मुर्गा चढ़ा तो दे दुर्गा का तो मुर्गा और चंडी का ले बकरा और फिर नो कहेगा बनाओगा नो कहो खा कर मैं नहीं खा करता और पाचे नो कहो बीरा थोड़ा सा मेरे कान भेज दिए सांझ ने तो बंदी छोड़ के हैं शेड शीतला गद्दा मांगे या कौन विद्या पांडे कह शीतला का गदा चढ़ा करे और आगे की तो आगे होगी पर इत ही जमको डांडे तुमको बता यही शुरू कर दी बहरो आगे भोपा बैठा खेतर पाल करूरी कुल का पुरोहित पोथी बाचे और कीजे बेद बेग कंदूरी तक भाई बना ले मुर्गा एक साइड देसी क्यों तेरा बाबू जो है ना मुर्गे की ख्वाहिश से उसको करो कंदूरी भोजन पूरी खीर खांड सटमासा घर में चोर शोर गम लूटे घर में शोर चोर गम लूटे यो जग अदर तमाशा अदर तमाशा संतों दीख्या सतगुरु दृश्य उघारी खेत्रपाल काल हो लागा भूत बहे ब्रह्मचारी वो ब्रह्मचारी बने बैठे थे नो कहो फिर भूत जा बने ये ब्रजार ये ब्रह्मचारी करे अगारी मुर्दे ऊपर खाही और तेरा मी का तारना का डा कारज जी मनता तेरा मी ने अधूरा छोड़ दिया करें ये कारज करेगा तो ये पूरा तरह काम बनेगा ना तो फिर तेरा बाप का काम नहीं बनता कहते तेरा मी का तार नहीं काटा कार्य जिमनता ही जा दिन हंसा करे पियाना कौन धाम कुंजाई और जिस काया में रहता हंसा सो तो ठोक जड़ाई ठोक जड़ाई छार उड़ाई किसकी मुक्ति करोगे और कौन भ्रमणा भूले पांडे क्या के पिंड भरोगे पांच तक की गुदरी फूकी दीप जड़ी सर्दी थी अंधघोर में भूले भाई या झूठी मुक्त वसी थी ये तुम गलत रास्ते अपना रहे हो बता रहे हो ये ठीक नहीं आवत जावत नजर नहीं आया गैबी खेल खिलाड़ी और बाजीगर के जंतर माई भूल रहे ब्रह्मचारी बाजीगर ये काल है अब कहते हैं बहुविध भूले अर्थ ना खुले अनर्थ से राते परम धाम की बाढ़ ना पाई ऐसे भव जल जाते कहते हैं वेदों में लिखा हुआ है अजा यज्ञ अश्व यज्ञ अश्व दराई उसका अर्थ नहीं पाया उसमें हवन में जो है ना भेड़ लाग गई अगे एक भेड़ पका दो इसमें किसी में बकरी पका दो तो उसका अर्थ नहीं सोचा कि वहां बकरी का किस उद्देश्य देकर के वहां वर्णन दिया गया बकरी फूकन खातर नहीं की जो बकरी की जैसी हमारी तमन्नाएं हैं अंदर उस तमन्ना को फूकन के लिए कहा था ना कि बकरी फूकन खातर वेद में लिखा हुआ और उन्होंने वह पढ़ना पुना के मारने का अजा जराई अजा बोला बकरी ने फूक दो इस मावन में डाल दो सवाहा पहले मतलब ये अपने हिसाब से सेटिंग करके आप भी नरक में और अनुयायियों को भी नरक में बहुविध भूले अर्थ ना खुले अनर्थ से तीराते परम धाम की बाट ना पाई ऐसे भाव जल जाते फिर कहते हैं वेद पुराणा पूनी बिन से धागा निक से सो धागा कहाँ समाना और उस गैबी का मार्ग चीनो ये त्यागो वेद पुराना वो मार्ग वो परमात्मा कैसे पाओ पूर्ण ब्रह्म वो नाम से पावे पूरे गुरु तो उपदेश ले ले फिर अपना भजन करे भजन की कमाई तो प्रभावी हो जाएगी सच्चे नाम की मेरे नामत काम नहीं चलता और भाई आम गुरु से काम नहीं बना ये परमात्मा खुद प्रमाण देते हैं और उस नाम का आप जाप कीजिए काम करते करते एक दिन आपकी अपने आप वो स्वरत इसके नाम की कमाई के प्रभाव से सब तचालन तो लाग जाएगी अब कई आपको बंडा देते होंगे बुका देते होंगे क्या हमने तुम्हारा तो गुरु जान दिन दिखा दे ऐसे अनाड़िया के चक्कर में फंस गए आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे के जाते दिखावा स हमने न्यो दिखा स दिखना इत, इतना बड़ा विवरण है दिखण का आप लोग समझ भी नहीं पाओगे और वो तो के समझे होंगे अपनी की हुई कमाई को हम देख सकते हैं ना तो पहले भी दिख जानी चाहिए थी गुरु नाम ले पाछा क्यों दिखी उन्हें अब जिसा वो नाम बोरे से नाम बीज से गुआर बोरे तो गुआर भी दिखेगा ज्वार बोरे तो ज्वार भी दिखेगा किकर बो बोई है वो भी दिखेगा कई लोग नाम के हो समझो वैसे समाधि लगा वैसे भी दिख जाएगा कोई बड़ी बात नहीं खेत में सबते भी कोबाड़ दान जाकर बिना बोए भी वो भी दिखेगा अब उसी को देख कर कहा हमने दिखा है फलाट वैसे बताओ बताऊ कौन के दिखे से बता दे दो तोड़ पाट जा के दिखे से तो इस प्रकार हमने जो नाम जाप करना है उस नाम की कमाई दिखेगी आम बो जाएंगे तो आम के पत्ते सुंदर सुंदर नजर आओगे और भाई केसु बोरा ये बोरा क्या क्या नाम संभल तो संभल भी दिखेगा बड़े सुथरे पत्ते फूल भी से काम लाओगे क्योंकि छोटा नहीं सा बढ़िया दरखत है नो का है लेकिन जब फल लगेगा ना तोड़ जब पाटेगा इतना बहुत पछेत हो जाएगी फिर कुछ नहीं बनता तो यहाँ कहे है वेद पुराना वेद पुराना जगत बंधाना जमपुर गोते खाही इन वेद और पुराणों में ये सब जग बंधा हुआ है काल के लोक में गोते खाते हैं नरक में वेद पुराना जगत बंधाना जमपुर गोते खाही और झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ ये बाद बेदा चतुराई ये बाद है यानी बेकार से विद्या कहते हैं विद्वान हो जाना और चतुराई होशियारी ये जो अपनी होशियारी बरत कर जाते हैं ना हमारे सामने आकर के करा के, के कहने लग जाते हैं हम हाथ जोड़ दें भाई तुम ज्यादा जानते हो अरे ये दो जोड़े हाथ अपने अपने दोहरे रखो ठीक हमने ना बेरा होगा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहां ला गए कहां लाओगे ध्यान को ये बाद बेदा चतुराई बाद कहे फिजूल विद्या और चतुराई होशियारी निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई अब देखो निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई वो जाप जोश है उसको छंद संधि कहे आपस में मेड़ करके किस्त मिलावे उस्तन जो सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम सोहम तो ऊपर एक और नाम जो दिया जाता है हमारे खास जो हनस उपदेशी जो ढंग से चल रहे हैं उनको दिया जाता सार नाम कहते निसंदेह देह को खोजो सोहम संधि मिलाई सोहम को उस सार नाम से जोड़ के फिर आप अपना अंदर परमात्मा की खोज शुरू करो नाम शुरू करो नाम के जाप तो वो आप दिखेगा दर्शन भी होंगे मान सरोवर हंसा राते मोती चुन चुन, चुन खाई काल कल्पना दूर निवारो आवागमन ना हुई राम रसायन से दिल भिग्या यो जग पीवे छोई हा राम रसायन से दिल भाग्या इनका मतलब राम नाम से दिल दूर है और छोई के हैं लस्सी मक्खन को छोड़ दिया लस्सी पी रहे हैं सतपुरुष को छोड़कर दूसरी उपासना जो कर रहे हैं वह लस्सी पीण की है मक्खन दही छोड़ दी ये जग पीवे छोई पत्थर पानी भरम कहानी पूज मुई सब बाजी अदेद कुराना बंदत खाना और मर्गे पंडित का जी वेद कुरान दो से ये बंदत खाना है ये कैद खाना है समझो ये पार नहीं होने देंगे आपको पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दिन अनाथा और बस बैकुंठ रह नहीं पाया हमने देखा दो जग जाता हिंदुओं के पांडे और मुसलमानों के काजी उनको लताड़े मंदी छोड़ उन घोड़े बाड़े आत्मा जो उनके अनुयायी से उन्हें नहीं बेरा क्या है कावि वो तो जिस तरह मार्गदर्शन कर दिया पंडित जी ने ये लो लिए और उधर <clears throat> काजिया ने कर दिया तो वो बेचारे भोड़ी भाड़ी पुण्यात्मा मुसलमानों की उनका पाछा वाली उनको ये नहीं मालूम फिर मर्यादा बना दी कि ऐसा नहीं करोगे तो थरा यूं हो जाएगा भवीत को रोक्यू हूं फिर बेचारे डरते अपना लग जाते हैं पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा बस्ट बैकुंठ रहा नहीं पाया देखा दो जिक जाता जाको बस्त बैकुंठ कह तू जाको बहिष्त बैकुंठ कह तो सो सुपने की झाई असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटत नाही जिसको तुम स्वर्ग जिसकी आखिरी उपलब्धि वेदों अनुसार पुराण अनुसार और मुसलमानों के धर्म अनुसार आखिरी उपलब्धि स्वर्ग है वो बहिष्ठ कहते हैं हिंदू उसे स्वर्ग कहते हैं बैकुंठ कहते हैं ये सपने की झाई जैसे सपना सा देख लिया फिर कुछ नहीं इसी प्रकार स्वर्ग में अपनी कमाई खाकर वापस आ जाते हैं कुछ समय के लिए फिर गधे और कुत्ते की जुन्नी भी इस जीव ने भोगनी पड़ती है ये सतगुरु महाराज कैसे फिर मंदा होगा बोले जी फिर बोले पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा भाई बेस्ट बैकुंठ नहीं पाया देखा दो जक जाता जाको बेस्ट बैकुंठ कहत हो सो सुपने की झाई और असंख्य जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटे नाही नो को निर वहां पर बहुत से जीव जो आज भी स्वर्ग में अपने आनंद भोग रहे हैं पर जन्म मरण खत्म नहीं है उनकी जुन्नी छूटत नहीं उनकी जुन्नी नहीं छूटे यानी जन्म मरण भी समाप्त नहीं होता जो स्वर्ग के अंदर जीव बैठे हुए अब बंदी छोड़ने को भाई वो स्वर्ग हमने भी देखा था पर अपना मन नहीं लग गया बेस्ट बैकुंठ हमो भी देखा हमारा जल नहीं लग गया भाई सुन मंडल को किया पियाना काल कर्म सब भाग्य बेस्ट बीच है बड़ा ग्रह हर जम के हाथों फांसी जोरा काल क्या ख्याल का गावे देखी गुरुद तिरासी बंदी छोड़ महाराज के हैं हम तो फिर आगे चले गए भाई बिस्त बैकुंठ हमो भी देखा हमारा दिल नहीं लग गया फिर सुन मंडल को किया प्याना काल कर्म सब भाग्या यानी अपने लोग को चल पड़े गुरुद तिरासी बहुत उदासी संतों स्वर्ग ना भाव उत्पत्ति पर ले फर्दी लेटो भोर नहीं दहकावे स्वर्ग संतों ने स्वर्ग अच्छा नहीं लगता संतों ने स्वर्ग नहीं सुनता क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कुन कुछ समय के लिए जो पांडे वो पाठ पढ़नते देखे जमकी जाली और भैरव ने रक्षा ना नी खेतर पर रखवाली ऊत भूत की पूजा खाई करुआ चौथ कहानी और देवी तुमरी छोटी पुत्री देखी भीम साणी सेठ शीतला साख रखत हो चंडी तुमरी माई क्षेत्रपाल है पिता तुम्हारा भैरो भूता भाई राहु के तू से बहु बिदराते नौगर से नेहा और फोकट ख्याल माल बहु लूटे अंत पड़ी मुखिया इतने बुरी तरह लोगों को बहका के और अपना उल्लू सीधा करते हो ये बहुत खतरनाक चीज है भाई तुम दुखदाई होगा आपके लिए आखिर अंत पड़ी मुंह खेवा खेहा के आग आखिर में आपके मुंह में राख पड़ेगी और दुखदाई होगा दर लिंगा बहुविध रंगा गाल बजावे गैले और लिंग पूज्य शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले दे कितनी बंदी छोड़ गहराई में ले जाकर के बात को उकास के लावे हैं कि भाई <clears throat> दर शिवलिंगा दर शिवलिंगा बहुविध रंगा <clears throat> शिव का लिंग बना लिया और उस पर फिर कहे इससे नु मुक्ति हो जाएगी पाती चढ़ा दो गंगा दल चढ़ा दो नो के क्यों गाल बजाओ सो ये वस्तु परमात्मा पाने की यानी शिव जी भगवान को पाण का भी यू तरीका नहीं है जो तुमने अपने मार्ग अनुयायियों को मार्गदर्शन कर दिया कहते हैं जय लिंग पूजे शिव साहेब मिले तो तो पूजो क्यों ना खेले कहते इस सीधा खागड़ा ही पूजा करो जो गौ नए दूध हो जा कि सारा था मिला है कुछ सुख हो बच्चा ना दूध हो और जोड़ना जो है बाछड़ा हो जा अरे से बेवकूफ बना रहे तुम दुनिया को अब सतगुरु महाराज की इस बात को ध्यान से सुनने से अंतकरण में जाती है कि हम मंदिर छोड़ने कितनी पाखंड पूजा का खंडन किया है मूर्ति पूजा का कितना विधि से खंडन किया है फिर महाराज आगे कहते हैं कि कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय अचारी और भाई ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदर जारी भगवान शंकर ने कद थारे की त्रिया पाखंड करे थे कद उन्होंने जो दुनिया बकाई थी हवन कर करके अपने सबको सिखा दो भैया आरती कराया करो और जो जला लिया करो हवन हो गया अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना क्यों नहीं कर सकते जो उपदेशी हैं नाम लेते हैं हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं उसको करण खातर मैं जाऊं और न्यों का घर दे क्या ऑनर रुपये अपने स्वार्थ बस जाता हूं उपलब्धि कुछ नहीं होगी तो कहते हैं बंदी छोड़ आ, हाँ। कद शंकर को सेवा मांडी कद उसने सेवा ली थारे भाई पैसे दे दो और कुमुंडित अचारी ला अंगिठी काष्ट कद फूके घी वसुंधरा जारी कद दिख पत्थर पूजे अड़सठ तीर्थ नाये चंदन काट घसी कद पथरी कद द्वादश तलक बनाए सनक सनक सनक सनंदन संत कुमार सनातन ये चार हैं ब्रह्मा के लड़के जो पांच वर्ष के रह से सारी हैं अपने पिता से उन्होंने वरदान ले लिया था पांच वर्ष के लड़के हैं पर बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं कहते उन नबी से पाखंड ना गृह अपना भक्ति करके पीछा छुटवाया नाम बजा और शंकर भगवान ने कद सनकादि का तीर्था मनान गए थे जिस प्रकार शंकर भगवान ने शक्ति प्राप्त करी निरंजन से पूर्ण ब्रह्म से पार ब्रह्म से और ब्रह्म से सोहम जो जाप है गरीबदास जी महाराज कहते हैं यू हमने शंकर जी दे दिया हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव सोहम नाम दिया शंकर को वो करे हमारी से हमने जो है सबसे पहले महाराज कबीर साहब कहते हैं जब हम आए थे मृत मंडल में यानी निरंजन के लोक में सबसे पहले मैं निरंजन से मिला निरंजन के साथ मेरी बातचीत हुई पहले तो उसने मेरे को मारना चाहा पर मेरे नाम के आगे शब्द के आगे शक्ति के आगे फीका पड़ गया फिर दो चार वरदान और मांग लिए मेरे पे फिर मैं आया इस भाव सागर में सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया ब्रह्मा जी को बताया भाई जिसको तुम परमात्मा कहते हो यो पूर्ण भगवान नहीं है और उनको बहुत कुछ बताया ब्रह्मा ने कोशिश करी और बताओ जी फिर उसका आज्ञा केस है जी और फिर कैसे महाराज की आकृति है वहां क्या होता है बहुत सुख होता है कहा जी वहां जाने बाजी उमरता नहीं अब उसने सोची बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी ब्रह्मा ने फिर बंदी छोड़ने बोले इतने में काल उसके भीतर में आ बैठा और उसकी बुद्धि फेर दी इतने में ब्रह्मा जी मेरे साथ बात विवाद करने लग गया कहने लग गया निरंजन तू पर कोई नहीं क्यों बुकावस है और उससे पहले मैं उसको ओम नाम का मंत्र बता चुका था कि ओम जाप जपया करवाए अब वो ओम नाम जपता है खुद ब्रह्मा भी क्योंकि वेद भी इसी का आखिरी निचोड़ है कि ओम जाप है उसके बाद कहते मैं आया विष्णु जी के पास विष्णु जी ने मेरी बात को भी खूब रुचि कर सुना क्योंकि वो सतोगुणी है उनको मैंने दिया कि हरियम नाम जपया कर बेटा जब काम चल लगा अब वो हरियम जाप खुद जपता है लक्ष्मी भी और वो भी दोनों इतने में कहते हैं फिर निरंजन वहां भी उसकी बुद्धि में सूक्ष्म रूप में पहुंच जाता है और उसकी बुद्धि फिर भी कहने लगा जी मेरे पास चार मुक्ति हैं अर्थ धर्म का मोक्ष ये चार मेरे पास वस्तु हैं ये चारों जिसको मैं देना चाहूं दे सकता हूं और मैं यहां का पूर्ण रूप से परमात्मा हूं मेरे समान कोई नहीं और हमारे जो इष्ट है निरंजन जो स्वरूपी यानी ब्रह्म उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं फिर मैं शंकर जी के पास शंकर जी ने भी मेरे को बहुत सी पूछा कि समाधि लगाता हूं बंदी छोड़ बोले मेरी समाधि काम ना चाले बीरा इसमें एक नाम और जब क्या कर वो केस है जी अक्सोहम वो उसको नाम दिया परंतु मेरी जो बात झाइन तो ऊपर में लेकर चलू कि इनसे ऊपर एक और शक्ति है वहां वो फेल हो जानो कहना ये तो कहने की बात उस बात को सुनकर भी खुश नहीं हुए कि एक आपसे एक और बड़ी शक्ति है और फिर वो ध्यान भी लावे है, है वो बड़ी शक्ति वो ब्रह्म है बंदी छोड़कर ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म भी है और पूर्ण ब्रह्म भी है पर ब्रह्म और परब्रह्म परब्रह्म की शब्द सुना है व्याख्या कही नहीं है और ब्रह्म की व्याख्या वेद और पुराणों में समृतियों में शास्त्रों में सब जगह मिल जाती है तो यहां बंदी छोड़ कहें कि हमने उनको सबको नाम दिया कहते हैं शेत भूमि का हम गए ना विष्णु विष्णु विश्वम्बरनाथ और हरियम हीरा नाम दे चेला किन्ना दास उसको हीरा ना हीरे जैसा नाम एक हरियम देकर उनको हमने अपना शिष्य बनाया अब ये इसी उल, उल्टी उल्टी बात लगे हैं कि कदे सुनिए कोई ना थी ने ना सुनी थी वीरा वही सुनान खातर हमने महाराज कैसे से हम आए थे कबीर साहब और वीरदास जी और फिर इन नामों से अलग माता का एक और नाम से माई से मिले और गणेश जो कि यहाँ के बुद्धि के देवता रिधि के देवता सिद्धि के देवता है उनसे बताया उनको भी ये नाम बताया कि इस नाम से तुम्हारा छुटकारा होगा अब पांचों महाशक्तियों को वो ज्योत नरंजन भी ऊपर की शक्ति का जाप करता है इस प्रकार गुरु महाराज ने हमें पूरा नारा नारा वर्णन दिया यह कहते हैं कि शेष गणेश शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी हाँ कद ब्रह्मा को छापे लीने और द्वारा मती नरेशा द्वारकापुरी के नरेश यानी कृष्ण भगवान ने भी कद ये छप्पे लाए कद वही तलक बनाए और कद पत्थर को पान खवाए जटा बधाई कैसा कदू नहीं डमडे बढ़ाए बड़े बड़े जटा कद राखी भगवान कृष्ण भगवान नरेश ने शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने और शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी धूमी घाल दिए कद धामे पीठ कौन जनता पी कद उसने आग लाकर चारों तरफ बैठे थे धूने बनाकर कद नारद मुनि नाद बजाया शंखा झालर पीटी होम अचार कौन विद ने चंदन चर्चा गीटी कद दरु प्रहलाद द्वारका नाये कद वृंदावन फेरी दरु प्रहलाद ने नौके नाम ते पीछा छूटा पीरा बालक से थे ना योग जाने थे ना साधन जाने थे ना कोई क्रिया थी ना वेद का ज्ञान था कद लाल द्वारका न आए कद वृंदावन फेरी अरे इंद्र दौन किए कद स्नाना को गंगा सागर बेरी कद वह बेरी गए कद गंगा सागर में नाक आए कद गोरख ने गुर्द चलाई तेग चक्कर कद बांधे दत्ता तेरे तीर कद घाले बान कौन दिन साधे अब देखो हमने जो ज्ञान से ना के भी दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए और चौबीसा भी काम दत्तात्रेय जी का नहीं चला जब कबीर साहब मिले उसको पच्चीस में गुरु का ज्ञान नहीं अब यहाँ वही बात है कि जहां ये वेद शास्त्र अपने ज्ञान खत्म बंद कर देते हैं कलम बंदी छोड़ वहां से शुरू करते दत्तात्रेय कौन था तीनों देवताओं का अवतार था दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के एक बार देखो इन परमात्माओं की असमर्थता का अपवर्णन आवश्य है कि एक समय अनुसुईया नाम की एक बहुत बड़ी सती हुई है सती मीन पति भरता सती तो खत्म कहते हैं जड़के मर जा वो सती नहीं पति भरता हो अपने सत पर जड़े वह सती होती है यानी पति भरता रहे उसकी जानकारी हुई अब भी बड़ी चर्चा होगी बहुत बड़ी पति भरता है सती है तो तीनों शावत्री लक्ष्मी और पार्वती तीनों इकट्ठी होगी जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नियां हैं कहने लगी वह इसी के सुथरी होगी वह उसकी चर्चा जगमा चाल है उसके हम धर्म न तोड़ांगे तोड़वाएंगे ठीक से वो अपने तीनों पतियों से कहने लगी कि आप हमारा एक काम करो के काम से हाँ वचन भर लो अकबर लिए आप जो है उसके पास जाओ अनुसुईया के पास और उससे कहो कि नंगी होकर भीख गाल है उसका यह भी प्रण है कि आए साधु भगत ने भीख बिना वापस नहीं जान देती भिक्षा बिना वह चली जाते हैं बोला ठीक से या तो कोई बड़ी बात ना नो के वहां सती है मारे तो ज्यादा चर्चा होगी है नू से नू से वो बोले ये अभी कोई बात ही कर दे काम जाकर तीनों जने एक साधु का भीष बनाकर और चले जाते हैं कहते हैं कि भिक्षा दो माई अनुसुईया वह महाराज बैठो अब भिक्षा में हम जो हम मांगे वो देना होगा वचन भर ले अकबर लिया कि नंगी होकर हमने दूध पिला दे वाह बोली कोई बात ना बैठ जाओ नहा लो मैं वह नहा नोकर अपनी जो शक्ति विद्धि सिद्धि जाना थी उन तीनवा के तीन तीन चार चार महीने के छह छह महीने के आठ आठ महीने के बालक बना दिए तीनों तीन पारने गाल कर उनमें लौटा दिए अकेले बेटा दूध पी लो अनुसुईया ने अब उन देखा कि भाई बताए कौन गई थी फिर पता चला कि वो तो छह छह महीने के बालक बनाकर लुटाए रखे तीनों के तीनों भगवान ये भी शास्त्र प्रमाण देते हैं कि सोचा हूं घर के गड़ंग मारा था तो फिर उन तीनों आना का हाथ जोड़े अघे अनुसुईया हमारे पति वापस दे दे अगर भैया दूध तो छक लेंगे जब दे देंगे ये दूध पीना आए थे तो नहा धोकर उसने अपना बच्चा ने क्यों करे दूध पियाओ वस्त्र निवस्त्र होगा पिलाओ चाहे वस्त्र सीट तने तो बोले जी कोई बात ना हमारी गुस्ताखी है क्षमा चावास तक ले जाओ तो अपने शेरा ने वह तीनों जो गए थे बना दिए अब फिर आशीर्वाद मिला कि उन्होंने तीनवा ने आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र एक ही होगा जिसमें हमारे तीनवा की शक्ति होगी तो फिर उनको उसका एक लड़का हुआ और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे ब्रह्मा विष्णु और महेश के और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया वो भी बेचारा भटकता फिरा इतनी बड़ी शक्ति की के, के अवतार तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं फिर उसका भी गुरु से गुरु बिना काम नहीं चला गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्यास करो फिर गुरु गुरु में भेद से गुरु तो उन्होंने चौबीस बना लिए थे पर पच्चीस में बिना काम नहीं चला पच्चीस में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ वो भी स्वर्गताएं ये तो सारी दवाई जाने से स्वर्गम जाना था स्वर्ग वाला नाम दे दिया ये पांच नाम जो दे रखे ना देते ये है ये स्वर्गताएं का ग्रंथ केस जाओ बेटा स्वर्ग में लौट लो पर मुक्ति होगी हमारे सतनाम और शार नाम से जो हमारा उपदेशक जो देगा और जिसको अधिकार होगा नाम देने का पर कहते हैं कि कद दत्तात्रेय कद गोरख ने गुरुद चलाई तेग चकर कद बांधे दत्तात्रेय तीर कद घाले बान कौन दिन सागे बाल्मीक कद ग्यारस राखी और सालग पत्थर धोके देवल धाम हदीरे पूजे भाठी किस दिन पोखे जनक जति कहो किस दिन रैया दे कद सरसो दे और सेना सिंधु कौन दिन आए नामा पुष्ट करो दे अब जनक जी का कहे एक हजार रानी थी दस हजार जनक राजा के दस हजार पत्नियां थी अब बंदी छोड़ कहते हैं कि वो कद ब्रह्मचारी रहे और कद जती रहे बात ये नहीं है कि दुराचार करने के लिए सतगुरु का इशारा है कहते नाम बिना पीछा नहीं छूटे इन सबको मिलाकर देख लो आप अजामिल कद आरती कीनी पीपा पतरे बांचे और भाई सदना गड़ कद रहे दने झांझ पीठ कद न एक अजामिल नाम का बहुत पापी था ब्राह्मण था जाति से और दारू पिया करता एक उस नगर की बहुत सुंदर वैश्या थी उस वैश्या से संपर्क करके उसने शादी कर ली पंडित जी ने वो जात से घेर दिया पंडित थे जाति के अजामिल तो अजामिल ने को जात से भी घेर दिया गांव से भी काट दिया गांव के गोर है बहुत बड़ी बड़ी करती वहां जाकर अपने मकान बना लिया झोपड़ी सी गाली पहले अंदर फिर कच्चा पक्का मकान बना कर वहां रहने लागे अच्छी हाथ काट कर दारू पी हुए और शिकार मार के लावे और वहां पति पत्नी रहने लागे एक दिन कहते नारद जी आए नारद जी गांव में पूछ लागे भाई कोई भगत का जगह बता दो घर मैंने वहां आराम रात मेरी कट जा आरती उरती कर लो मैंने सोच भोजन मिल जा अब गांव वाला ने सोचा भाई यू अच्छा आदमी यू किसी ना अच्छा आदमी ना समझता हम सारे बेकूफ सर लाइसकी इसी रोग काटांगे जो बोला भाई एक भगत तो दे गांव तो बाहर रहा आकर गांव में तुम्हारा क्यों भगत भगत को नहीं ना वो बाहर से एक बहुत बड़ी आदमी से और कति नेक आदमी तो वहां भेज दिया नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए घर में नहीं था उसकी पत्नी थी फिर मंदा हो गया वह उसकी पत्नी थी जाकर नारद जी कहने लगे भाई नारायण माई अक नारायण मा ओहो महाराज जी अब बेचारा पहली बार दर्शन हुए थे किसी आदमी के उधर को जावे नहीं था पाया में लोट गिर पकड़े महाराज आ जाओ अकागा आई उन्हें सोचा बस सच्चे भगता का गया तो खाट बिछा दी जी साबे उठा और कहने लगे महाराज जी रोटी बनाओ रोटी खाई तो भाई कोई बात ना रोटी भी खावांगे सारी बात होगी इतना मोह भगत जी आ जा हजा मेर एक तक गादड़ मार रहा कोई हिरण मार रहा लाठी में टांग रहा उन्हें जेड़ी में और धनुष ले रहा साथ में आकर उसने उसका आगे पिटक दिए अगला भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से शिकार पाए थे और बना बड़ी आशी सब्जी और मैं अपना लिया सो समा और देख सामने करे यू हो जो बोला महाराज जी आ रहे थे महाराज जी आ रहे थे आओ जी महाराज जी आओ जी महाराज बड़े दर्शन दिया आज तो महाराज जी मारे सोलह जन आ गए अब नारद ने सोची यू के पंगा भाई पहले आधा सुथरे बोल रहे थे पर ये यू पंगा ना समझ मान दी बोलने काम लिए फिर बोला भगत जी यू के भाई तक महाराज जी सच्ची बताओ कहा यहाँ क्यों कर फसे तुम महाराज जी ने सोचा कि भाई कसू चीज आ गया हो तेने वो तो कहें क्यों कर फसे अकिया आए कैसे आप अके बात भाई मैंने गांव में पूछा था किसी भगत का घर बता दो और भाई उन्हें गांव वाले ने बोले भाई एक भगत वो बाहर रहे अग जी ठीक हो नो बोला जी मैं भगता बन के दिखाऊंगा यानी वह चोट लागनी थी लागी कि भाई गांव वाले जब तो यहां तक मेरे गेल पढ़ लिए अकीब मैं भगता बनकर दिखाऊंगा महाराज जी आज तक जो गलती हुई सो गलती हुई ये पकड़ लिए कान भाई हराम खोर आशा जबान के पक्के शब्द बदगाम ने कह दी थी इस वैसा शादी ना कर मैंने करनी थी वह कर ली मैं नहीं मान्या करता किसी की और ईब जो मैंने कह दी सो कह दी आज तो पाछा दारू नहीं पीऊंगा शराब नहीं पीऊंगा मांस नहीं खाऊंगा कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं करूंगा और पकड़ कर उनके खरगोशा के पार कोटड़े पैग भगा दिए दोनों के दोनों हिरण और वो अरनू बोला अपनी घरानी बोला धो साफ कर सारे घर ने धो धा कपड़े धो बर्तन साफ मांझ के अरनो कति बढ़कर बैठ गए तो अरनो बोले भाई बिल्कुल ठीक हो गया नारद जी तब तो संत तो नहीं करें कोई किसी का भला हो जाए पर किसी पॉइंट से हो जाना चाहिए और संत की इतनी कृपा भी हुआ करे उसकी रजा तो सदबुद्धि अवश्य आवेगी ऐसी बात नहीं संत जो कमाई करता है उसमें उसके लक्षण अवश्य दूसरे में प्रवेश करते हैं कुछ इस जैसे धूप ला रखी तो मैक जाएगी अवन सामग्री रख रखी है नहीं प्रज्वलित हो रही फिर भी उसमें से मैक आ रही है बदबू में से बदबू आया करे उस दिन तय उन्हें अर्न बोला जी देख डटना पड़ेगा यहीं पर नो बोला अगर तुम कर सारा धन्य कम्मा भोजन से मैं कौन खाऊ तो बोला जी गांव मत ला दूंगा बढ़िया भोजन और ना दोगा बना देगी और कोई चिंता ना करो आप आज तो पाछा प्रकृति आपके से सो लिए न सो नारद जी मान गए भी ठीक से रात नहीं ही डटना होगा दिन का छपेरा था भाई एक वृक्ष के नीचे न्या का उनकी खाट और सारी रात पंखा करा गर्मिया के दिन थे पानी छिड़क दिया रोटी राटी खाए पास सो गए नारद जी जब अभी आंख खुलने दोनों एक सिराने खड़ा पंखा लेकर एक पांच ने अरे नो बतलाओ भगवान आज गिराना कौन सा सुथरा जन सदो जो की सेवा मारे बाग में इसे नीत न मिल गई अरे नो आख्या में कर उनका पानी भी आ जा कई बार ये बात चर्चा करते तो सुबह नारद जी बोला भाई भगत जी मैं थारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ और अनमोल काम आपने ये कर दिया कि दुर्व्यसन त्याग दिए मेरे आय की इज्जत राख दी और गांव वाले के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने इस बात का कि अभी सच्चा है भगत से नो बोला जी तो कह दी सो कह दी फिर नो बोला भाई राम नाम बजा कर देखती बदन तमरा को नहीं बाकी नो हम ये काम बुरे नहीं करूंगा नीचे देखा रो बेटे कि मैं बुरे काम नहीं करूंगा आज तक पाछा बोला भाई चोखा इतना ना करिए इतना तो करिए फिर नो बोलिया कि एक काम करिए तेरे एक लड़का होगा उसका नाम तू नारायण दर दिए अब नारद जी ने नारायण नाम के जाप का बेरा था और ज्यादा नहीं जानते अब नारायण का हम आपको बंदी छोड़ अनुसार आपको विवरण देंगे कि नारायण जाप तक की उपलब्धि होगी तो जी चला गया नारद जी तो अपना आशीर्वाद देकर चले गए दस महीना में नौ महीने साढ़े नौ महीना में नौ महीने में लड़का हो गया उन लड़किया नाम नारायण कर दिया अब देखो वो छोटा बच्चा इतना प्यारा लगा उनको एक मिनट भी आख्या जल तो हो जाते नो करे नारायण कित गया रहे नारायण नारायण बहा दिले उसका पीछे पीछे बच्चा आगा आगे वो पाछे पाछे लेकर लकड़ना हो जा रात के समय जब भी कभी और आख्या सो छाती का ला कर सो उसमें इतना प्रेम हो गया उस लड़के में एक बार कहते हैं कि उस अदादिल को यम के दूत लेन न आगे यहां शास्त्र प्रमाण ये देते हैं कि उसने नारायण नाम जाप कर दिया तो इतना में विष्णु जय के भी आ गए उन दोनों का बड़ा जूत बाज गया यानी यमदूता का भी और नारायण आला का भी यानी विष्णु भगवान आला का भी आखिर में दोनों जने धर्मराज के पास चले जाते हैं उसको लेकर के नारायण भी और यमदूत भी ने बोला भाई उन तक फैसला करवाना आपा क्यों लड़ा गए वहां जाकर कहने लगे भाई हाँ यमदूत कहने लगे कि महाराज धर्मराज जी कि आपने हमें भी भेज दिया नौ ये भी आगे तो शास्त्र ये बताते हैं कि उन्होंने नो कहा कि इसने नारायण नाम ले दिया आखिर में मरती आना चाहते ये यम के दूत आ गई नहीं तो इसका काम अच्छा नहीं था पहले तो यहां स्वामी दयानंद जी ने यह टिप्पणी करी है कि उसने नारायण नाम लिया था बोला अपने बच्चे को बुलाने के लिए मरते हुए कि मेरे छोरे का की होगा और ये बोला शास्त्र वाले लोग हैं कि उससे नारायण कंधे बोला भगवान आ गए के दूत आ गए ईसा भगवान बेकूफ सब आई कि अपने छोरे न पुकारे राजे यम के दो इतनी भी नहीं जानता कि छोरे ने याद करे है अकमन ने याद करे से ये बिल्कुल ठीक है परमात्मा इतना अनजान नहीं से अपनी मर्जी तो नारायण कहण तर जो है ना ईश्वर के दूत आ जाएंगे वहां क्या हुआ कि यथार्थ ये है कि उसका अंत समय हो गया यम के दूत पकड़ लेगे गए पकड़ ले गए धर्मराय ने देखा कि इसकी तो भाई अभी उम्र दस पंद्रह वर्ष की और रह रही है इसने बिरा उल्टा पटक दो ये तो बहुत खतरनाक आदमी से फिर इसने सीधा नरक में ठोकांगे इसने कोई सुथरा काम ना कर उसकी उड़द ज्यादा से ड्राबाई कर अकिया कौन बनी जिसका ऊपर आश्रित हो बैठा था बच्चा भी वहीं रह गया पत्नी भी रह गई और कर्म कुछ भी नहीं बनाते रहते ये कोई उसका सुथरा संस्कार था जो उसको इतना अवसर और मिल गया वापस पटक दिया उसने उठाकर चल पड़े थे फूकन के ताही रास्ते में मिला रास्ते में वापस उसकी सुरत आई कहने लगी कहां ले जा रहे हो अका आप शरीर त्यागे थे फूकने के लिए आपको शमशान घाट में ले जा सकते पहले तो शायद वो सोपन समझता लेकिन जब ने बेचारा देखा थी ले जहां से तेरे को तो तेने बोला भाई बिल्कुल ठीक हो कति किससे तो नहीं बोला और उठ कर चल पड़ा अपने घरवाली ने बोला उस वैसा गणिका को कि भगवान भजन कर ले कुछ नहीं दे सौ दे अरे कोई बेटा बेटी ना सा अपना भजन कर ले पीछा छुटवा ले उड़ती से बूंदे थोबड़े वाले से इसी बूंदी बूंदी आग करती अरे कति ले खड़े हैं तीर पिनाए ताकि एक बार धर्मराज ने कह देख ले जाओ रामजादे कुछ कुछ इसने कोई सुथरा काम नहीं किया तन्ने बोला भगवान चल कोई गुरु की तलाश करेंगे फिर उसने दोबारा नारायण उस नारद जी की तलाश करी नारद जी ने उनको सोहम मंत्र दिया नारायण नाम जपन का नहीं है जैसे हम सतनाम सतनाम करते हैं सत साहेब सत साहेब ये सत साहेब जपन का नहीं है बीरा वो नाम और से जो हम जाप करते हैं इसलिए नारायण नाम जप जाप करने का नहीं है वो और नाम से सोहम जाप उसको दिया उन सोहम जाप भी पूरे गुरु से मिला जैसे नारद से मिला कहते हैं दरु को भी सोहम मंत्र स्वाभाविक सुनाया उसके इतनी लगन थी धरु जब घर से निकल कर चाल पड़ा तो रास्ते में नाराज जी बोले न बोले भाई की जा से बेटा धरु इसे बूंदे जंगल में न बोला गुरु जी महाराज ऋषि जी मन टोको मत ना अब बाधक मत बनो मैं चाहे मरू चाहे जीव ही परमात्मा पा करूंगा नो बिला बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिला चाहे सारी उम्र लगे रहो इधर सीधा तुम नाचे क्यों नो बोला कदे भी नहीं मिला बेटा बेशक चक्कर काट अगली फिर क्यों कैसे मिला कि नाम गुरु दे जब मिला पांव पकड़ लिए ने बोला आप तो बड़ी यार गुरु और कौन होगा मेरा अच्छा भाई नाम दोस्तों नहीं मानता था बोले सो हम नाम जप्या करिए तो सो हम नाम लेकर ध्रुव जंगल में चला गया ऐसी लगन से उसने उपासना करी कि छठा महीने ईश्वर की उपलब्धि कर वो कर ली तो यहां भी फिर अजा अजाजील को अजा ना अजामेल को और उस गणिका को नारद जीओ ने नाम दिया और सोहम नाम से उनकी मुक्ति हुई चंदन था सोहम नाम से जब उनकी मुक्ति हुई तो अब यह कहते हैं कि वे अनजान व्यक्ति जिनको ना आत्म अनुभूति ना शास्त्रों का ज्ञान ना यथार्थ वस्तु की जानकारी नारायण जाप जपणते हैं उसकी मुक्ति होगी नारायण जनाप जाप करते नारद की भी नहीं हो रही नारायण जाप जपया करता नारद खुद गद्दी बना गधा बना और एक बार वो औरत बनी औरत बनकर बहत्तर पुत्र हुए फिर बुढ़ी होगी और फिर अपने बाल पाड़ पाड़ कर उसका वहां कुएं में दरिया में छलांग लाने खातिर अपनी आत्महत्या करने खातिर उसमें डांक लगाई जब फिर नार, नारद जी बन गया तो महाराज कहते हैं कि हम हाँ, प्रथम तो विश्वास नहीं करते कि असली नाम कौन सा है सतनाम कौन सा है किस इष्ट की उपासना का अब इन बातों से कोई महसूस करे तो हमारे से मिले और बंदी छोड़कर हम दिखावा कि ये शास्त्र बतावा वेद भी छोड़ दिए सब तो श्रेष्ठ वेद का ज्ञान माना और वो नाम भी छोड़ दिया ओम नाम का लाभ मिल सकता है वो भी पूरे गुरु पे और ओम कहां तक लाभ देगा निरंजन तक के उपलब्धि आपको करा सकता है काल मुक्त नहीं हो सकते जन्म मरण तक नहीं बच सकते ये बंदी छोड़ का मार्ग है अब यहां कहते हैं अजा मेल कद आरती किन्नी पीपा पतरे बांचे एक पीपा ठाकुर था राव साहब राय साहब का आग्रह मतलब ठाकुर को राय साहब कंवर जी कह दें तो ये <clears throat> राजस्थान के रहने वाले थे राजा था और शेरा वाली माता का बहुत तगड़ा उपासक था शेरा वाली माता का आदि माया का अस्तंगी का एक दिन उन्होंने कबीर साहब के मार्गदर्शन अनुसार जैसे कि रामानंद जी को ज्ञान हो गया था फिर वो रामानंद जी अपनी मंडली भेजा करते जगह जगह कि भी आप यथार्थ भक्ति का सत्संग करके आओ वो सत्संग हो रहा था राजा पीपा वहां पर अपने महल में सुन रहा था कि भाई ये कह के रेस ये तो नौके माता से भी ऊपर कोई शक्ति है मेरे नहीं दस्ती भाई अगले दिन उन सब महात्माओं को अपने घर में राजा ने बुला लिया वो कहने लगा भाई तुम तो ये की बात कह रहे थे कि माता से ऊपर कोई बड़ी शक्ति है जी बहुत बड़ी शक्ति है माता वैसे <clears throat> यहां पर दूसरे नंबर की शक्ति है इस ब्रह्मंड की लेकिन इस तो ऊपर निरंजन ब्रह्म और ब्रह्म से ऊपर और भी शक्ति है पार ब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म ना मानो माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है जब मैं उसकी आरती विधि से करता हूं तो वह संत ने बोले आप ऐसे ही कीजिए और माता तो पूछ लो माई से पूछो भाई मारी बात पर क्यों विश्वास करो तुम माता से पूछ लो और पता जब माता कह देना कि ये रास्ता ठीक बताओ थे तो हमारे दोहरा दिए वहां पर रामानंद के हम शिष्य और काशी में रहते हैं किशन पूछ रामानंद जी को सब जानते तो कहते हैं पिपा जी ने अपनी फिर वो विधि विधान किया जिससे माता दर्शन दिया करती थी जब माता ने दर्शन दिए कहने लगी पीपा के मांगे से भाई ईब तत्न पीछे से मेरी आरती करी थी दस एक दिन हुए अब क्या आवश्यकता पड़गी कोई धन चाहिए औलाद चाहिए राज बढ़वाना से कुछ और चीज़